प्रणतने जिज्ञासा समाधान में आज का प्रश्न है आर्याभिविनय के उपहूता इह गाव इस मंत्र के स्वाध्याय प्रवचन में कहा गया कि परमेश्वर हमारा हितकारी है दयालु कृपालु है इसलिए हमें गायादि पशु के माध्यम से सुख देता है इसलिए हमारे आने से पूर्व और जब तक रहेंगे तब तक ये रहेंगे तो वेद मंत्र की व्याख्या में ये बात रखी गई थी कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे लिए आवश्यक बहुत सारी व्यवस्थाएं पहले से विद्यमान रहती हैं उसमें पशु पक्षी वनस्पतियां पेड़ पौधे ये सारी चीजें भी थी तो इस पर इनका प्रश्न है कि ये समझ में नहीं आता कि भगवान की कृपा इसमें कैसे सिद्ध होती है अर्थात परमात्मा ने तो इसमें कुछ किया नहीं है किया किन्होंने है तो कहते हैं यह तो उन आत्माओं की कृपा हमारे ऊपर है जिन्होंने ऐसे कर्म किए चाहे वे क्यों नहीं जानते हों कि हमारा कर्म दूसरे के हित में है उन्होंने ऐसे कर्म किए जिससे वो उन शरीरों में आए और उनके वहां रहने से हमें लाभ मिल रहा है उनसे दूध मिल रहा है फल अन्न आदि मिल रहे हैं तो ये कह रहे हैं भले ही उन्हें ये पता ना हो कि हम इन मनुष्यों का इस प्रकार से हित कर रहे हैं तो भी कृपा तो उन्हीं की मानी जाएगी वे ही ये हमारे लिए कर रहे हैं तो भले ही वो न जानते हो कि हमारा कर्म दूसरे के हित में है आगे कहा भगवान तो बाध्य है उसे तो कर्म का फल देना ही पड़ता है अतः वह कृपालु दयालु आदि कैसे है तो ये जो अन्य प्राणी हैं जो दुग्ध आदि देते हैं प्रश्नकर्ता ने स्वयं स्वीकारा है कि भले ही इन्हें ये पता ना हो कि हम इनका हित करते हैं यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से अन्य प्राणी जब ये जानते ही नहीं है कि वो अन्यों का हित कर रहे हैं और वो कर्म करने की योनिया भी नहीं है वो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है कर्तृत्व कहां आता है जब हम करने न करने या अन्यथा करने में स्वतंत्र हो कर्तापन आता ही वहां पर है अन्य प्राणियों से हमारा जो भी हित होता है वो उनकी व्यवस्था से नहीं होता है वहां वो आत्मा उस उस शरीर में है बस इतना ही है लेकिन इस सबको खा पी करके दूध बनाना है अन्यों के लिए ये उपकार करना है इनके लिए फल उत्पन्न करने हैं ऐसा वहां कुछ नहीं रहता है उनका कोई कर्तृत्व नहीं है और कर्तृत्व नहीं है तो वो कृपालु और दयालु भी नहीं कहे जा सकते उनका कोई परोपकार नहीं होता है वृक्ष यदि हमें फल देते हैं तो उनका कोई परोपकार नहीं है उसमें उनका कोई पुण्य नहीं बनता है उनकी ओर से तो कोई कृपा दया हमारे ऊपर नहीं है और वो आत्माएं उन उन शरीरों में अपनी इच्छा से नहीं गई हैं वो परमात्मा की व्यवस्था से गई हैं ये ठीक है कि उन आत्माओं के वैसे कर्म थे और वो वहां गई उनको भेजा गया वहां पर कर्माशय के कारण से तो ये परमात्मा की व्यवस्था से होता है ये व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है परमात्मा उनको कर्मों का फल भी देना चाहता है और परस्पर एक दूसरे का हित भी इसी माध्यम से वो कर देता है इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता था एक प्राणी दूसरे प्राणी को अन्य जो प्राणी हैं एक दूसरे का आहार बनते हैं बनाते हैं और मनुष्य का शरीर भी अन्य प्राणियों के द्वारा प्रदत्त खाद्य सामग्री पे चलता है पेड़ पौधों से प्रदत्त सामग्री से तो ये व्यवस्था चूंकि परमात्मा ने बनाई है इसलिए परमात्मा ही हमारे पर कृपा और दया कर रहा है इस व्यवस्था का बनाना ही उसकी हमारी पर दया है आपने लिखा कि परमात्मा तो बाध्य है कर्म का फल उसे देना ही पड़ता है परमात्मा के पास कर्मफल देने के और भी विकल्प हो सकते थे और भी विकल्प हैं यदि उसे फल देना है किसी को पाप कर्म का दंड देना है तो वो उन प्राणियों को इस प्रकार भी बना सकता था कि उनसे अन्यों का कोई हित नहीं होता वो ऐसे भी पेड़ बना सकता था जिसपे फल फूल होते ही ना हो वो ऐसी घास पत्तियां भी बना सकता था जिनमें अधिक बीज ऐसे कुछ हो ही नहीं जिससे कि लोगों का जीवन चले और जैसा हमारा शरीर उसने बनाया कि हमारा शरीर इन चीजों को खा सकता है पचा सकता है उसके अनुरूप वहां पर भी उत्पादन बनाया है ये जो परस्पर सामंजस्य है हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है ये शरीर उसने वैसा ही बनाया और उसकी पूर्ति के लिए उनके शरीर भी वैसे ही बनाए और उनकी पूर्ति के लिए भी अन्य चीजों को वैसा ही बनाया है ये जो परस्पर सामंजस्य है ये किसी आत्मा का बनाया हुआ नहीं है हमें तो पता भी नहीं है कुछ तो परमात्मा ने ये सारी व्यवस्था करके हमारे पर कृपा की है दया की है परमात्मा बाध्य है कर्मफल देने के लिए पर भिन्न प्रकार से भी वो दे सकता था बहुत विकल्प है और फल देने में तो वो एक तरह से बाध्य है क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है हम कह सकते हैं कि परमात्मा अपने स्वभाव को कभी बदलता नहीं है वो वैसा ही करता है वैसा ही सर्वश्रेष्ठ है लेकिन उसकी सामर्थ्य तो है वो भिन्न ढंग से कर सकता था पर चूंकि वो सर्वश्रेष्ठ है दोष रहित है त्रुटि रहित है इसलिए जैसा सर्वश्रेष्ठ हो सकता था वो उसने वो सदा से वैसा ही कर, करता है और ऐसा ही करता रहेगा इसलिए ये दया और कृपा हमें परमात्मा की ही समझनी चाहिए उन उन प्राणियों ने जो हमारा हित किया है उसके बदले में हमारा व्यवहार उनसे यथा योग्य होना चाहिए उनकी व्यवस्था उनको ताड़न आदि ऐसा ना हो कि उनके साथ अन्याय हो उनका हित चिंतन ये हमारा कर्तव्य बनता है वो हम करेंगे वो हमें करना चाहिए तो इसका उत्तर ये है इस विषय में किन्हीं को कुछ पूछना है हाँ कश्यप जी स्वतंत्रता के बारे में स्वतंत्रता ये समझ में आता है कमजोर है उसको बड़ा दबा देता है बलवान दबा देता है तो बलवान स्वतंत्र हुआ ये स्वतंत्र नहीं हुआ तो इसी प्रकार अन्य पशु वगैरह हम हमसे कमजोर है हमने उनको किसी प्रकार अपने वश में कर रखा है तो स्वतंत्र नहीं हुआ इसी प्रकार हमारे में भी हमसे बलवान होने या हमसे बुद्धिमान होने हमें अपने वश में कर रखा है तो हम स्वतंत्र नहीं लेकिन हम अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं हम्म। तो थोड़ा सा इससे हटके प्रश्न है पर कुछ संबंधित है इन्होंने बात रखी कि हमारे से बलवान व्यक्ति हमारे को दबा देते हैं हमारे को अपने अनुसार चला लेते हैं मनुष्य भी अन्य प्राणियों को अपने अनुसार चला लेता है तो जो बलवान है बुद्धिमान है वो तो स्वतंत्र है कर्म करने में लेकिन उनसे नीचे के मनुष्य भी वो तो उनके अनुसार ही चल रहे हैं तो वो स्वतंत्र कैसे हुए जिनको आप कह रहे हो दूसरों के अनुसार चल रहे हैं शक्तिशाली के अनुसार उनके भी जीवन में बहुत सारे कर्म ऐसे दिखाई देंगे जिनको वो स्वतंत्रता से करते मनुष्यों में आपको ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढने से भी ना मिले जो कर्म करने में स्वतंत्र ना हो बहुत अधिक परतंत्रता हो सकती है कहीं परमात्मा ने तो हर मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र बनाया है सामाजिक अथवा अन्य पारिवारिक व्यवस्थाओं के कारण से या कुव्यवस्थाओं के कारण से दूसरे अन्याय पूर्वक अन्यों को परतंत्र बना देते हैं अपने अनुसार चलाते हैं उनका शोषण करते हैं तो उनकी तो स्वतंत्रता है ही वो गलत कर कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं और करने वाले जो दबने वाले हैं वो भी उस अंश में परतंत्र हैं लेकिन अन्य अंशों में वो भी स्वतंत्र हैं स्वतंत्रता तो फिर भी है और बहुत अधिक स्वतंत्रता है और इन स्थितियों में भी जहां दूसरे हमें दबाते हैं वहां भी उनका प्रतिरोध करना या वैसा का वैसा सहन कर लेना इसमें भी हमारी स्वतंत्रता रहती है अनेक बार हम स्वयं उन स्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं सोचते हैं कि इस इनका विरोध किया तो झगड़ा होगा संघर्ष होगा फिर और जगह अपनी असमर्थता के कारण से वो सोचता है कि वहां भोजन नहीं मिलेगा या सुरक्षा नहीं मिलेगी इससे तो यहीं दब के इनके साथ रहने में ही ठीक है ये वो अपनी कमजोरी के कारण से ऐसा करता है इसमें भी तो वो स्वतंत्र है अधिकांश दबाने वाली स्थितियों में आप देख सकते हैं कि वो दबने वाला जिसकी वो हम परतंत्र कह रहे हैं वो वहां से भाग भी सकता है अन्य जगह भी जा सकता है लेकिन वो भी वहीं चलते रहते हैं तो जब दूसरा हमें चलाता है और हम उसके अनुसार चलते हैं वहां भी अधिकांश जगह पे हम स्वतंत्रता से उनको स्वीकार करते हैं कि हम आपके अनुसार चलेंगे कोई शासन हो राज्य हो कोई कार्यालय हो कोई संस्था हो परिवार हो इन बहुत सारी जगहों पर हम दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं कि आपके अनुसार मैं चलूंगा अब ये जो निर्णय किया था ये हमारी स्वतंत्रता थी हमने स्वीकार किया ना हम इस देश के संविधान को स्वीकार करते हैं हम इस संस्था के अनुशासन को स्वीकार करते हैं इत्यादि तो यहां भी हमारी स्वतंत्रता बहुत सारी रहती है तो इनको परतंत्रता उस रूप में नहीं कहा जाता लेकिन जहां अन्याय अत्याचार पूर्वक जबरदस्ती बलात् कुछ कार्य करवाए जाते हैं उनको स्वतंत्रता नहीं दी जाती शोषण होता है वहां आप कह सकते हो उतने अंश में परतंत्र है और मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है इसका यह अर्थ नहीं है कि सब चीजों में पूरी स्वतंत्रता हो गई कि हम कभी भी कुछ भी कितना भी कैसे भी कर सकते हो इसका ये मतलब नहीं है सीमाएं तो हर जगह रहेंगी हमारी सामर्थ्य की सीमा है परिस्थितियों की सीमा है सड़क पे चलने की स्वतंत्रता होते हुए भी कहीं भी हम जा सकते हैं फिर भी उसके अपने नियम हैं जिस देश में हम रहते हैं वहां कहीं भी रह सकते हैं भूमि मकान खरीद सकते हैं कहीं भी भोजन आदि कर सकते हैं दुकानों पे अपने इच्छानुसार कर सकते हैं पर फिर भी वहां अपने नियम हैं कहा मकान खरीद सकते हैं कहा नहीं खरीद सकते इत्यादि पंजीकरण कराना <clears throat> ये किस लिए है ताकि हमारी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक न बने क्योंकि जैसे हमारी स्वतंत्रता है ऐसे दूसरे की भी स्वतंत्रता है उसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसमें हमें दूसरे का मान करना होता है मौन का समय है उपासना का समय है अध्ययन का समय है तो वो सबके लिए है अब एक व्यक्ति ये कहे कि मैं स्वतंत्रता से कुछ भी जोर से बोलूंगा जोर से संगीत सुनूंगा अब उससे दूसरों को बाधा हो रही है तो ये कह करके तो वहां नहीं चला जा सकता कि मेरी स्वतंत्रता है मैं कुछ भी करूं हमारी स्वतंत्रता तभी तक तो है जब तक दूसरे को बाधित ना करें और मान लीजिए आज हम अपनी स्वतंत्रता से कितना भी ऊंचा संगीत बजा रहे हैं हमारा पड़ोसी रुग्ण है उसके सिर में दर्द है हमने उत्तर दे दिया कि हमारी स्वतंत्रता है मैं मेरे घर में कुछ भी करूं क्या ये स्थिति बदल नहीं सकती है ये कभी बीमार हो ये कभी घर में ध्यान कर रहा हो शांति से पढ़ रहा हो उसकी परीक्षा हो और पड़ोसी उसी समय तीव्र ध्वनि से संगीत बजाने लगे तब वो क्या करेगा तो ये हमारी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए हमारे हितों की सुरक्षा के लिए हम एक दूसरे के नियमों में बंधते हैं सामाजिक नियमों में बंधते हैं इसको परतंत्रता नहीं कहते हमारी जो स्वतंत्रता है अन्यों की जो स्वतंत्रता है वो व्यवस्थित रह सके उस स्वतंत्रता का उचित अधिकाधिक लाभ मिल सके उठा सके इसलिए ये नियम बनाए जाते हैं तो इन नियमों में तो कोई परतंत्रता नहीं है और पशुओं को जो हम अपने अनुसार रखते हैं पालतू पशुओं को तो वो तो होता ही है उनकी तो कर्म की वैसी स्वतंत्रता नहीं है हम उनको एक उचित मात्रा में परतंत्र रखते हैं उनका हित करते हैं और उनसे लाभ भी उठाते हैं ये कर सकते हैं सोमदेव जी अन्य प्राणियों के कर्तृत्व का अच्छा विशेष हाँ। हाँ, करे न करे अन्य करे मनुष्यों में ज्यादा घटता दिखा वहां भी दिखता है कि एक रास्ता दो रास्ते हैं उधर जाए कार्य इधर जाए हमने भी तो ऐसा करते तो, तो वहां इनका कहना है कि कर्तृत्व के लिए ये नियम बताया कि करने न करने या अन्यथा करने में स्वतंत्र हो जाओ तो यद्यपि मनुष्यों में ये स्वतंत्रता अधिक दिखती है लेकिन पशुओं में भी दिखती है कि पशु कहीं भी जा सकता है ये घास खा सकता है वो घास खा सकता है इत्यादि यहां बैठ सकता है या वहां बैठ सकता है ये जो आपने बातें रखी ये जो उदाहरण जहां हमें पशुओं में स्वतंत्रता दिखाई देती है वो सामान्य कर्म है वो चेष्टा विशेष नहीं है जिनसे कि कोई कर्माशय बने ऐसा तो है ऐसा मनुष्य में भी होता है हम यहां ना बैठ करके वहां बैठ गए इस आसन पे ना बैठ गए उस आसन पे बैठ गए इससे कोई कर्माशय नहीं बनता है तो ऐसे कर्मों की स्वतंत्रता दिखते हुए भी वो कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं मानी जाती ये तो सामान्य है हमारा प्रसंग किस रूप में जिनसे कर्माशय बनता है उन कर्मों में उनकी स्वतंत्रता नहीं रहती वो मनुष्य की रहती है इसी तरह से अपनी प्रगति करने की और पतन को प्राप्त होने की अन्य प्राणी पतन को क्या प्राप्त होते हैं उनका तो वैसा जीवन है वैसा ही चलता रहता है और प्रगति को भी क्या प्राप्त करते हैं ये तो मनुष्य शरीर में ही देखा जाता है इस दृष्टि से मनुष्य को ही कर्म करने में स्वतंत्र माना जाता है फल भी उसी को मिलता है उसी के कर्मों का फल उसको मिलता है ऐसा ठीक है और कोई तो इस विषय को तो यहीं समाप्त करते हैं और